से अनहित पीठ पीछे मित्र का अनहित करना मैंने तो उसका बिगाड़ हो जाएगा उसका विनाश हो जाए हानि हो जाए किसी का और मन कुटलाई इस प्रकार से मन में कुटिलता पाछे अनहित को मैंने कपट रखा रखे कपट को विस्तार कर दिया कपट बनाने क्या है कि पीठ पीछे अनहित चाहना कपट कहलाता है आगे चक्कर कपट को रहना हो तो मन कुटलाई और मन में कुटिलता ऊपर ऊपर सब प्रकार दिखाते हैं लेकिन मन में बैर भाव है तो ऐसा जो है वो मित्र मित्र नहीं है जाकर चित अस अभी गति समझाई जिसका की चित्त इस प्रकार से सर्व की गति के समान है सब कैसा चलता है तेरा और हाँ? उसी कुटिलता मन की भी कुटिलता कुटिलता चेहरा बने तो जैसे सर्व तेरा ऐसे जिसका की मन तेरा कुटिल जिस तरह तेरा तेरा चलने वाला है तो बस वो सब के समान मानो सब के उदाहरण के लिए दे दिया कि वो ऐसा मित्र को सब ही समझो कभी कभी लोग बात कहते हैं कि आपके ही का साथ है उर्दू की कहावत आपके ही का साथ तो मैंने अपने साथ ही लगा हुआ है आपके ही का अपने साथ ही लगा हुआ है और भीतर जो है भीतर भीतर जो है सबको <clears throat> कर रहा है विकास कर रहा है तो ऐसे करके ये भी अगर गुस्सा के मन सत्य के समान कुटल है मन विषाक्त है अगर मित्र को मित्र के ऊपरी ऊपरी मित्रता दिखाता है लेकिन भीतर से गलत आता है तो कहते हैं ऐसा भी जाकर उसका मन इस प्रकार का असत्य मित्र पर लड़ू भलाई तो ये मित्र नहीं है तो पवित्र अब ऐसे पवित्र अगर मिल जाए तो क्या करें तो ऐसे भैया हाथ जोड़ो कि हमारे घर तुम्हारी मित्रता में चलेगी तुम अपने करो हम अपने परिवार में छोड़ दो मित्रता मत करो ऐसे व्यक्ति से ऐसे लोगों से मित्रता करने योग्य नहीं है इसलिए कहते अस तो मित्र परिहरी भलाई अब एक देखो नीति का वचन बोलते हैं ये तो मानो भगवान ने अपनी बात कही और एक उद्धरण दे देते हैं कहीं नीति का कहते सेवक तो सठ मृत कपन को नारी कपटी मित्र सूल समचारी अगर सेवक सठ है मृत कपन है स्त्री स्त्री नहीं कुनारी है पर युद्ध कटती है तो सूर्य तो संचारी तो ये चारों जो है सूर्य के समान है सूर्य के दो एक सूर्य के माने है भाला बंधन जैसे जो मार दो तो जैसे छिल जाएगा तो पीड़ा पहुंचाएगा तो सूर्य और दूसरा सूर्य के माने है जिसका जो पात्र होता है तो सूर्य की पीड़ा चलाती है सूर्य टांगों में दर्द होने लगे कमर में दर्द होने लगे पेट में दर्द होने लगे तो बड़ा पेट में दर्द रहा क्या है तो सूर्य उठा रहे हैं तो बड़ा समझ लो जैसा सूर्य भीतर भीतर जब दर्द उठता है तो ऐसा लगता है भीतर कोई सीधा घूम रहा है उसमें ऐसा दर्द होता है तो कहते हैं बस ये चारों जो है ये सूर्य चाहे जो ये है सेवक सठ है अगर सेवक जो है वो है नौकर है सेवक है वो सठ है सठ है मैंने आज्ञाकारी नहीं कहे कुछ करो कुछ हुँ? तो वो भी फिर बड़ा कष्टकारी होता है और मृत तो प्रबण और राजा पंडित हुआ मैंने मैंने राजा को उदार होना चाहिए उदार के मैंने जो व्यक्ति गुणवान व्यक्ति हैं वो राजा उनका भरण पोषण करे अपनी उदारता के साथ में उनको दे खाने पहनने उस पुरस्कार इत्यादि दे ये तो, तो राजा ठीक है नहीं तो फिर राजा क्या हो तो राजा प्रतिभा तो मृत प्रबण और कुनारी किनारे तो स्त्री जो पत्नी आज्ञाकारणी न हो अनुसरणी उनका अनुसरण करने वाली न हो उसे डर करने वाली हो कहते हैं कि स्त्री का सबसे बड़ा दोष क्या कर्कशा एक जो है गर्भाधास हो गए कभी हाँ? गर्भाधास कुंडलिया याद करो आप मेरे जगह यही है मरे करता खाना मरे वो खबर में खट्टू मरे यार गजा मरे वो अरियल अरियल कट्टू जैसे पुरुष जो है सबसे खराब पुरुष कौन पति कौन है हैं जो काम नाम कुछ नहीं करता बदल खाता खाता चलते नहीं उसको लिखट्टू मेरा ये खतम लिखट्टू ऐसे स्त्री को तो मरे करता था नारू जैसा लड़ाई लड़ती हर बात आती जैसे से जो कुमारी चंद्र अंदर तो कपटे मित्र उसी प्रकार मित्र भी कपटे हुआ मैंने पास से अनहित मन कुटलाई उसी बात को कह दिया ये कपटे मित्र ऐसा हुआ तो शील संचारी वो चारों जो है शील की तरह से पीड़ा पहुंचाने वाले सफा से तो प्याज बल मोरे अब जहाँ तक की ये सिद्धांत हो गए मित्रता के तो इसलिए भगवान कहते भाई देखो हम तो अपने मित्र का धर्म मित्रता हुई है तो मित्र का धर्म हम पालन करेंगे इसलिए अपनी बात कहते हैं कि सखा सो के क्या हो बन मोरे ये सखा सखा संबोधन कर दिया तो हमारे मित्र हो इसलिए तुम संकट में समय तुम्हारा दुख तो हमारा दुख सबसे बड़ा हमारे लिए हमारा दुख हम अपना भूल जाते हैं हमें अपने दुख की परवाह बात ने यहाँ नहीं कहा आगे चल करके जितने पत्रकार वगैरह में कहीं पद आए जहाँ पर के तुलसीदास ने स्वयं कह दिया अरे भगवान की महिमा गाते हुए कहा भगवान को क्या है देखो सुग्रीव से जब मित्रता की और सुग्रीव के संकट से जब उन्हें पता लगा तो भूल गए सब अपने की सीता का हरण हो गया है और उनका वियोग हो गया है और सीता का दुख भूल गए उन्हें सुग्रीव का दुख ज्यादा दिखाई देने लगा ऐसा बोलते हैं तुलसीदास तो कहते हैं जो भगवान यहाँ करते हैं <clears throat> सखा से तो गए बल मेरे हमारे ऊपर के ऊपर भरोसा रखो और तुम अब चिंता मत करो तुम्हारे सारे दुख कष्टों का हम दूर कर देंगे सब विधि घटक साध में तोड़े सब काम तुम्हारे हम पूरे करेंगे सब विधि घटक काल के बने तुम सब बातें कह दी इसमें जैसे भी तुम्हारा राज्य भी तुमको मिल जाएगा तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारा बैर जो है बाल से वो बाली भी मारा जाएगा ये सब तुम्हारे जितने संकट सब प्रकार के हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे अब इसमें एक बात ये भी आ जाती है भगवान तो भगवान है सब प्रकार से उसका कार्य घटेगा तो भौतिक भी घटना चाहिए कार्य जाति भी घटना चाहिए तब सब विध चलाएगा अगर केवल भौतिक ही लाभ राज्य दिला दिया पत्नी का सब विध नहीं हुआ हम्म। इसलिए भगवान जो उसको आध्यात्मिक सहायता मैंने भक्ति प्रदान भी करते हैं उसको तो कहते सभी जो घटक काज में तोरे कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा तो सुग्रीव कहने लगा सुन करके कि बाल महाबल अतिर धीरा आप बालू को तो मारने को कहते हो लेकिन भाल तो बड़ा ही शक्तिशाली है उसके सामने उसके मैंने बाल की शक्ति का वर्णन करके <clears throat> वो भगवान राम के ऊपर संदेह प्रकट करता है ये नहीं कहा अरे आपकी क्या ताकत है कि बाल को मार पाओ ऐसे बोला जाता है कहना यही है बाल को सुधरी यही कहना चाहता है कि हमें तो नहीं लगता कि आप बाल को मार पाओगे आपकी ताकत कहाँ है लेकिन कहता इस प्रकार से है कि हे रघुवीर सुनो बाल महाबल अति रणधीरा वो तो बड़ा शक्तिशाली भी है रणधीर भी है दोनों को उसमें कोई कोई लोग बलवान तो होते हैं लेकिन जब लड़ने की नौबत आए तो भाग खड़े होते हैं ताकत खूब है लेकिन लड़ने लड़ेंगे नहीं उसके लड़ने से डरते हैं लेकिन ताकत भी हो और युद्ध करने में भागे नहीं रणधीर से करते हैं रणधीर बने ना में युद्ध में बता रहे मरने को तैयार है तो ये दोनों बातें तो इसमें दोनों ही बातें बड़ा बड़ी भी है रणधीर भी है तो भगवान ने कहा तो बड़ा रणधीर है तो क्या हुआ अब यहाँ पे जैसे कि दूसरी और दूसरी रामायण देखते रहने चाहिए बीच बीच में तो वहाँ पता चलता है लक्ष्मण जी ने कहा सुग्रीव की तरफ देखा है तुम्हें तो उनके धन के ऊपर विश्वास नहीं है भगवान राम के ऊपर तब तो सुग्रीव ने कहा कि दरअसल में बात यह है कि जैसा कि हमने बताया कि किसी ऋषि का कहना यह है कि जिस जिंदगी राक्षस के हो उसने बाली ने मार दिया है उसकी हड्डियों का ढेर अब भी पड़ा हुआ है उन हड्डियों के ढेर को अगर कोई बीस कोट दूर उठाकर के फेंक देगा तो भी ये माना जा सकता है कि वो बालू से युद्ध करे तो सब जीत जाए और ये भी बताया श्री सुग्रीव ने कहा कि दर्शन एक बार की बात घटना ऐसी घटी कि वह बाली कुछ पेड़ों के फलन तोड़े थे और खाने के लिए उसने ले जा करके एक सरोवर के किनारे रखे और सरोवर में उसने स्नान किया और स्नान करके उसके बाद उसने सोचा कि उसके बाद ये फल खाएंगे लेकिन जब वो बाहर निकला उसने स्नान करके तो देखा कि उसके चारों तरफ एक साथ जो वो उन फलों के चारों तरफ कुंड भी लगाए हुए बैठा हुआ तो पाली ने आकर के सब उसे कहा कि अरे हम तो ये फल अपने खाने के लिए रखे थे तुमने सारे नष्ट कर दिया सब फल अपवित्र का अशुद्ध कर दिया अब सब का छुआ जिसमें सब रखता हुआ वो फल को भला कौन खाएगा पता नहीं कहाँ दुष्ट हो कहाँ क्या हो तो बारे ने उसको साथ दे दिया तो तुम हमारे भक्षण को तुमने इस प्रकार को नष्ट कर दिया खाने योग्य नहीं रखा इसलिए तुम दस जीवन में चले जाओ अभी तो तुम अपने पापों के कारण सब हुए हो अब तुम जाकर के दस जीवन तो उसके बाद में कुछ काल के बाद में उस, उसमें सर्प ने भी कह दिया उनके बाल से कि देखो तुमने कहा कि हम दक्ष हो जाएंगे सुख हो जाएंगे लेकिन जो हमारे वृक्ष योग से हमारा उद्धार करेगा वो तुमको भी मार देगा तो बारिश का जो जो कुछ होगा तो देखा जाएगा मरना तो सभी को ऐसे कह करके बाल चला गया उसके बाद में उस जगह जैसे वो कुंडला के शब्द था उसी प्रकार के ताल के वृक्ष उसमें खड़े हो गए सात ताल के वृक्ष खड़े हुए और गोल गोल खड़े हुए भी नहीं थे काल के वृक्ष उसके शरीर से हड्डियों में से सात काल के पंडित कर अब उसने जो दिखा बताया कि सुग्रीव ने कि देखिए ये सात काल के पेड़ हैं और इस प्रकार का साप या कुछ समझो ये है कि जो सात काल के पेड़ों को एक साथ काट करके गिरा देगा हाँ, वो जो है बाल को मार सकता है एक राजस्थान की रामायण है तो रामायण में इस प्रकार की पंक्तियाँ आती बहुत पहले पड़ी थी पंक्ति आती इस प्रसंग में जो सात साल के पेड़ों को <clears throat> एक बाण से ढा देगा हाँ, वो पुरुष बलि है हाँ, उस निश्चय जने बाली को हाँ, <clears throat> मार देगा ऐसा करके कुछ खास करती चलता <clears throat> तो वो वहाँ पर वो यहाँ पर ये नहीं कहते हैं प्रसंग छुपा हुआ वहां जाकर के राधे श्याम ने स्पष्ट किया कि सात साल के गोल गोल पेड़ों को जो एक बाण से धा देगा हाँ तो कहा कि उन्हें बाण से वो विजय बाल पर पालेगा तो उसको तब ये सुग्रीव ने बताया तब भगवान ने कहा अच्छा देखो भाई वो भी देखते हैं तो भगवान ने जाकर के उसके पास गए वहां पर और <clears throat> बिंदु भी अस्त ताल दिख बिंदु वस्तु दिखाई और अस्त और ताल दिख रहा ताल के पेड़ दिखाए और दिन प्रयास रघुनाथ धाये अब जी की बात को नहीं कहा नहीं तो भगवान ने अपने बाएं के अंगूठे से ऐसे करके दिया उठा करके ढांचा पूरा पूरा दुमडुम की ढांचा गिरा जा करके सही हो दूर गिरा जा बालों ने जब उसको फेंका था जीवित जब था तब उसके शरीर में मांस भी था रक्त भी था और ताजा था वो शरीर तो भारी भी था तब उसने जब फेंका था तब एक एक योगन दूर गिरा जाता तो भगवान ने जब उसको पैर से उठा करके बाएं पैर से उसकी हड्डियां फेंक दी तो दिख रही तो देवी सुग्रीव के मुख पर प्रसन्नता तो नहीं दिखाई दी ऐसा लगा सुग्रीव ने सोचा अरे सुखी दुखी हड्डियां इन्होंने अपनी फेंक दी तो कौन सी तारीख हुआ तब भगवान ने बाण उठाया घोष और बाण मारा तो ताल के पेड़ देखे वो जो सातों ताल के पेड़ गोल गोल थे देवी एक बाढ़ से मारे तो सब सातों के साथ और ऐसे गिरे कि जल सहित उठा तो करके गिरे ये काट लीजिए ऐसा नहीं तनों में लगे तने और होगा तन अलग होगा वो ऐसे मारे कि भूल में जा करके जल सहित उठा तो करके जल गए गरम बना एक जगह तो कई पुराण में ये भी कहा गया उसकी जल इतनी गहरी थी कि शेष नाग के अंत पहुंच गई अगले तो पुराने सारे पुराणों की उनकी अपनी भाषा शैली है वो कितना क्या बोलते हैं लेकिन उन्होंने जो वो जड़ सहित बाढ़ मार करके सबको उखाड़ निकला दिया तो जब वो वो चारों पेड़ गिर गए वो सातों पेड़ गिर गए तब वो सात वर्ष अब लगता है कि उनमें शक्ति है और ऐसी शक्ति है जिनका जो बाण ऐसे जमीन में घुस के चला गया इतनी पथरी जमीन में और तो सब जगह खा करके पेड़ को फेंक दी और बाण लौट करके फिर भी करके में घुस गया अरे उनके बराबर कोई दुनिया नहीं हो सकता ये तो सब धोताओं उठाओं सबको मार सकते हैं मेरे नहीं जैसे बुरी कहा कि अब हम समझ गया बहुत दिन की बात है कई लोग जो है वो अब भी धनुष बाण चलाने का अभ्यास करते हैं तो एक बार एक गुरु जी थे कोई कहीं थे और उनके साथ में दो तीन लड़के थे कर्मचारी उनको उन्होंने धनुष बाण चलाना सिखा रखा <clears throat> उनको कई तरह के जैसे पुराने जमाने में बांध चलाने वाले होते थे वैसे वो चला करके दिखाते भी थे एक आदमी ने ऐसे करके डोरा बांध करके और कंकड़ी बांधी और डोरे में बांध करके लटका दिया और वहां पर किसी व्यक्ति ने उसमें खट खट खट करके आवाज की तो उसको एक तो उसने हमने पट्टी बांध दी थी भगवान लेकर खड़ा हुआ था तो शब्द जो भी बांध से चलाते हैं चंद चंद बरदाई वगैरह की दुकाने में पूरा तो ऐसे करके फिर उसने ऐसे करके वहां से जब खड़ा हो गया टाइम करके तो उसने कहा एक बार फिर तो वहाँ पे जहाँ भागा था खंड खंड की आवाज फिर की गई वहाँ पर और हट गया और उसमें जैसे बाढ़ मारा खड़ा था घाटा कट गया तो उसके माने आप पट्टी बांध करके भी जोश प्रकार हो सकता है फिर उसने ये भी दिखाया कि एक थाली के ऊपर जो हुए हो इतनी बड़ी गोल थाली उसके चारों तरफ जो हुए हो मोमबत्तियां जला दी गई दस बारह पंद्रह बीस मोमबत्ती चारों तरफ किनारे किनारे जला दी गई खड़ी कर दी गई उसने एक बाल मारा तो सातों वो सब चार कर दी मोमबत्तियां एक बाल में से सब गिर गई ये हमने अपने आंखों से देखा यानी कभी बहुत सी बातें तो इस प्रकार की होती है तो शास्त्रों की बात भी है कुछ अनुभव की बात भी है ये हमने अपनी आंखों से देखा इस प्रकार और भी कोई घटना होती है तो इसमें जो ये कहते हैं उसमें सात साल के पेड़ से गोल थे ऐसे लगे लगेगा देखो सब कल्पना की बातें करते जाते हैं की बातें करते जाते प्राणों सब ऐसे ऐसा नहीं उनकी सत्यता भी उनमें कुछ हो सकती है उसके जिनमें भी काला सितारा दिखाए दिन प्रयास रघुनाथ ढाए देख अमित बल बाली प्रीति बाली बदल में बही पर प्रीति ये देख करके तब उसको विश्वास हुआ कि ये इनमें शक्ति है ये बाली को मार सकते हैं ये विश्वास उसके मन में आ गया तो जब विश्वास आ गया उसके मन में तो विश्वास इतनी नहीं आ गया कि बाली को मार देंगे उन्होंने ये लगा कि अरे ये तो सब देवताओं से भी शक्तिशाली है महान कौन है उनके सम्मान क्या है ये तो सम्मान करता है निश्चय ही प्रथम परमात्मा है भगवान ये बात क्या है बार बार नई पद संसार अब वो जो है बार बार उनके चरणों में जैसे देखा हनुमान जी पहले भगवान से मिले थे तो पहले तो ऐसे सब झुका करके प्रणाम कर लिया था और उनसे परिचय पूछा था लेकिन जब उन्होंने पहचान दिया प्रभु पहचान करे उन्होंने तो जैसे पहचान जा के भगवान है हमारे स्वामी है तब उनके चरणों पड़ा अब इसको किसकी इसकी स्थिति अब आई सुग्रीव को कि बार बार ना गई तब सीसा अप्रवल जान मन हर्ष कपीसा उसने समझा दिए तो हमारे स्वामी है ये हमारे भगवान ही है जिनकी आराधना पूजा क्या करते थे वही है उन्होंने उतार लिया है तो जा ज्ञान पचन कर बोला तब उसके मन में ज्ञान कर दिया ज्ञान दो प्रकार का एक ज्ञान तो ये सुनकर तैयार है कि ये बाल को मार लेंगे वो ज्ञान और दूसरा ज्ञान ये साधारण मनुष्य नहीं ये परमात्मा के अवतार है ऐसा जानिए विदा ज्ञान बचन तब बोला नाथ कृपा मन भय वलोला उसने कहा भगवान अब हमारा मन स्थिर हो गया है अलोल के मन लोल के मैंने चंचल अलोल के मैंने स्थिर हो जाना अब हमारा मन स्थिर हो गया अब देखो दो प्रकार के मन मानसिक स्थितियां हैं ये आता रहता है जब तक व्यक्ति संसारी है और संदेह इत्यादि में है और विशेष आसनाओं कामनाओं पड़ा है तब तक मन में चंचलता रहती है जहाँ उस परमात्मा में उसका विश्वास उत्पन्न हो गया तहाँ मन स्थिर हो जाता है बिना परमात्मा में विश्वास प्राप्त किए मन में स्थिरता नहीं आती उसका एक प्रमाण यहाँ देते नाथ कृपा मन भयो लोला सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई अब देखो बैराग की बातें करनी लगे अब वो कहता है अरे दुनिया में क्या रखा है हम्म? अब जब आप ही परमात्मा स्वरूप आप ही मिल गए तब हमें और क्या चाहिए सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सुख मिले चाहे संपत्ति मिले चाहे परिवार मिले चाहे यश की प्राप्त हो राजत्व प्राप्त हो जाए सब परिहरे परिहरों से उठाई मैं सब छोड़ करके आपकी सेवा करूंगी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए अब मुझे राजवाज्य नहीं चाहिए अपने अपने आप मुझे नहीं चाहिए कहीं संपत्ति भी मुझे कुछ नहीं चाहिए अब मैं तो आपकी सेवा करूंगी ये बात जो सब राम भगत के बाधक तथा जिनको धन्य भी गिनाया है ये भगवान आपकी भक्ति में सब बाधा उत्पन्न करेंगे और हुआ भी आगे चल करके बाद में जब उसको राज्य गया सुग्रीव तो को भूल गया भगवान राम को तो वही बात उसको पहले समझता था ये सब राम भगत के बाधक सुख संपत्ति परिवार और ये स्थित आदि राजत्व ये सब भगवान की भक्ति में बाधा डालने वाले हैं कहीं संत तो पद अवराधक जो संत लोग हैं और आपके चरणों की आराधना करने वाले हैं सब लोगों का कहना यही है मैंने मतलब सबका मत यही है सब यही कहते हैं कि ये सब बाधक हैं उनसे व्यस्त होगा वही व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा इनमें आसक्त है तो भगवान की भक्ति होगी नहीं सत्र मित्र सुख दुख जग माही माया कृप परमार्थ माही देखो से तो माया दिखाई देने लगी तो सत्र मित्र जो है जो दूसरे की कोई सत्र है कोई मित्र है और कोई कहीं सुख है कहीं दुख है संसार में ये सब माया कर परमार्थ नहीं अब इन बच्चों को अभी अब अपने आप भी थोड़ा देखो कहीं से वो जो पिछला प्रसंग आ चुका है जब लक्ष्मण जी ने किसान राज को जो उपदेश दिया है वहाँ के जो वचन है और सुग्रीव के जो वचन है दोनों को मिला करके देखना दोनों प्रसंगों को एक साथ पढ़ करके देख लेना दोनों का तात्पर्य एक एक ही शब्दों का अंतर है भाव एक ही वहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं सखा परम परमार्थ मन कम वचन राम पद मेहू और बाकी जितनी जो है काल कर्म इत्यादि सबका वर्णन करवाते हैं और फिर ये कहते हैं कि देखो ये ये सब के सब ये सब माया करते हैं हम्म। मोहमूल परमार्थ नहीं ये वहाँ उन्होंने कहा लक्ष्मण जी मोहमूल परमार्थ नहीं ये सब मोह कैसे मूल है मैंने माया से उत्पन्न होने वाले हैं ये सब कुछ परमार्थ नहीं है हानि लाभ जय पराजय शत्र मित्र ये सबके सब जो है ये माया करते हैं तो कहते हैं बाल परम हित जास प्रसादा के मिले राम तुम समन विषादा अब देखो शत्रु बालू में अभी तक शत्रु भाव था सुग्रीव का भी मिट गया तो देखो जहाँ परमार्थ सामने आ जाता है तहाँ ये लौकिक जितने भी भेद बुद्धियां हैं वो नष्ट हो जाती है सुग्रीव की नष्ट हो गई अरे कह रहे हैं कि बाल हमारा अभी तक हमें शत्रु दिखाई दिया और हमारे शरीर में आया तो बड़ा मित्र है हमारा हमारा बड़ा उपकार उसने हमारे ऊपर किया कि बाल परम है तो जात प्रसादा उसी की कृपा से मिले राम तुम समन विषादा हे भगवान आपने जो संसार में कभी कभी ऐसा होता है व्यक्तियों के ऊपर संकट आता है परिस्थितियाँ ऐसी आती है तो लोग परेशान होते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि परमात्मा की योजना क्या है जो आज का संकट है कल चल करके ये आपके लिए वरदान से दो हम्म? ये होता अभी तक उसके ऊपर संकट था कहाँ बालू ने कितना मारा कितना दौड़ाई फिरा सारे भूमि में जहाल घूमते रहे तो यहाँ पर भी पर्दा घूम डरे डरे बैठे हुए थे लेकिन अब जैसे भगवान राम मिल गए तो आज कितना अच्छा हुआ बालेश्वर भाई सत्यता हो मिले राम तुम समन विषादा तो जो आपको आपको मिल गए तो सारे विषादे ही मिल गए <clears throat> अन्य सागरी छुट्टी हो सपने जो सन हो लड़ाई जागो समुचित मन सब उचाई करो हो देखो रात्र में कोई सपने देख रहा हो और सपने देखते हुए किसी से लड़ाई हो जाए मैंने अपने घर में किसी व्यक्ति से खुद लड़ाई हो जाए और जागे तो देखे तो उससे कोई लड़ाई हमारी नहीं है और वो आकर के बन के लड़ाई हो गई थी सपने में बोलचाल भी नहीं हो रहा था एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे अब जागे तो वही आकर के खाना ला दे रहा आकर के मैं काम कर रहा है तो मन में संकोच लगता है कि देखो इससे तो हमारी इतनी लड़ाई थी लेकिन यहाँ की लड़ाई वड़ाई तो नहीं है कैसे तो कैसे कि संसार में जब तक अज्ञान में कोई व्यक्ति है तब तक तो ये सब भेद बुद्धि दिखाई देती है जीव का अहंकार करता रहता है कि मैं अलग हूँ ये दूसरा अलग है तो ये मेरा मित्र है ये मेरा शत्रु है ये अपना है ये पराया है ये बना है ये बुरा है ये अहंकार में सब दिखाई देता है लेकिन अहंकार जहाँ समित हुआ अपने आत्म स्वरूप में आया और मैंने परमात्मा जागृत हो गया उसका जहाँ आपने ज्ञान की दृष्टि में आया उसे दिखाई देता है की जैसे मैं पूरा करके देखते रहते वो तो सब अपने ही स्वरूप है शत्रु भी अपने स्वरूप है मित्र भी अपने स्वरूप है ये शरीर भी अपने स्वरूप है जितने भी संसार में सब अपने शुरू से अपने हृदय नहीं तो जैसे सपने से जागने वाला व्यक्ति विचार करे कि सपने में जिससे हमारी लड़ाई हुई वो हमसे भूलने गई हाँ? वो तो रात्र में सपने जैसे हमारा जीवन शत्रु का रूप धारण कर लिया था और हमें उसके शत्रु बन करके उसे लड़ रहे थे हमें दोनों पक्ष हमारे ही थे अब जागे सम्मानों के अरे वो तो जितने भी लोग हमें सपने में दिखाई देते सब हमारे रूप थे ऐसे जहाँ स्वरूप में व्यक्ति आया परमात्मा जान में आया तो उस संसार में सब कुछ अपना ही स्वरूप था हम जब नहीं समझ रहे थे मेरा तेरा करके भेद समझ रहे तो जो आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान के माने है जहाँ भेद बुद्धि नष्ट हो जाए अब वो अपनी भेद बुद्धि नष्ट होने के लिए कारा कि सपने के समय हो आई जा दे समझे तो मन सब चाहिए अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तक भजन करो दिन रात आपने समझ आ गया ज्ञान हो गया हमको संसार क्या दिखाई देने लगा चक्र में कुछ आर्थ नहीं लगते अब तो बस यही है कि भगवान अब हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो तो सदा आपके भजन में लगे रहे सदा आपकी सेवा में लगे रहे आपके ज्ञान में स्थित रहे इस संसार चक्कर में हम न पड़े सुन विराज संगीत बानी भगवान ने जब सुनी अरे ये तो बड़ी बैराग्य की बातें कर रहा है तो सुन विराज संगीत बानी बोले हंस राम धनुपानी तब भगवान राम हसे हम्म? भगवान ने अपना जरा ऐसा भी लगता है भगवान ने अपने भी थोड़ा संभाला और हंसे अब पारमार्थिक रूप से कहो तो भगवान का हंसना जो है जैसे मंदोत्री ने कहा है कि माया हाथ ये भगवान का हंसना जो है माया तो भगवान ने यद्यपि सुग्रीव के मन में सपनित घटन काज में तोड़े तो उसमें उनको ज्ञान भी दे दिया भगवान ने उसको भक्ति भी दे दी उसको भैराली भी दे दिया लेकिन फिर भगवान ने कहा कि नहीं अभी जो है वो थोड़ा सा जो है वो तब उसके ऊपर फिर एक माया कावल जैसे की लीला आगे चलती रहे भगवान की <clears throat> सब उस राजा भी बने तो बानर जाए भी सीता जी रामन से युद्ध भी हो उस लीला के चलाते रहने के लिए भगवान ने फिर माया जाल उसके ऊपर फैलाया इसलिए हंसे अब बेहद के माने ये भी है <clears throat> कि भगवान राम ने हंसे हंसे तो तो तो सुन विराग संगीत कभी बानी भगवान इसलिए जैसे अरे तुम्हारा बैराग जो है क्षणिक बैराग है अभी देखना चाहिए विराग क्या होता है भगवान जी जानते हैं ऐसा बैराग ज्यादा सकता नहीं है इसलिए जैसे सुन विराग संगीत कभी बानी बोले बेहस राम धन पानी धन पान पानी मैंने हाथ हाथ में धनुष लिए भगवान ने हंस करके इस प्रकार से कहा कि जो कुछ कहे सब सब हो भगवान ने भरोसे कहा जो कहा देखो तो जो तुम्हें जो कुछ मैंने कहा है वो सब सत्य होना सत्य होना कि अगर मैंने कहा है कि मैं इस बाल से बाल को मार दूंगा तो ये मत तुम समझना कि अब तुम्हारे बाल के तुम्हारे मित्रता होगी तो बाल नहीं मरेगा वो तो मर रहे जब मेरे मुझसे निकल गया जब बाल को मैं मारूंगा तो आप तो वो मरे तो कहते हैं कि <clears throat> जो कछ कहो सत्य सब सोई <clears throat> सखा वचन ममृषा न हो जो बात हमने कह दी वो झूठी होने वाली नहीं है पानी पर मरे तो नट मरकट उसे सबई नचावत राम खगेश दे दे सजावत खगेश कौन है हाँ? गरु तो गरु को कौन कथा सुना रहा है कालभूषण हम मन ये कथा कहाँ चल रही है हाँ, कालभूषण के आश्रम में वहाँ की कथा है हम्म, तो वो कालभूषण उनको सुना रहे हैं गरुड़ को कि जो देखो अब ये उनके कालभूषण के बचन है अभी तो, तो कथा चली आ रही है आपका काकभूषण अपनी अपनी टिप्पणी देते हैं कि सुनो बोले महाराज क्या होता है भगवान क्या करते हैं नट मरकट समझ में चाहवत जैसे मदारी अपने बंदर को नचाता है ऐसे भगवान सारी दुनिया को नचा रहे हैं आप उसी के जान में ना तो भगवान ने नचाना शुरू किया सुग्रीव को तो सुग्रीव मरकट हाँ इसलिए ज्यादा यहाँ पर बात खुद बैठता है नट मरकट सदन में चाहवत सुग्रीव को भगवान के हाथ में बानर के समान और भगवान सन्नत के समान अब उसको मचाते हैं राम खगेश वेदेश गावत वेद ऐसा कहते हैं तो लय सुग्रीव संदर्भ नाथा चले साथ सायक गई हाथा तो जब ऐसा कह करके भगवान जो है उठ खड़े हुए उस समय हाँ? बोले कि ये तो जो हमने कह दिया वो तो हो ही होगा तब क्या करेंगे भगवान ही खड़े हो गए तो सुग्रीव खड़ा होगा चलो सुग्रीव लेकर सुग्रीव को चलो नहीं सुग्रीव संग रघुना था चले चाप साय तो यहाँ था पहले भी कहा था धन पानी और वो धनुष बाण भगवान अपना संभाले हुए हैं कि मैंने अभी धनुष बाण से तो मारने ही वाले को बार बार सुग्रीव को दिखाते रहते हैं तो सुग्रीव साथ होकर के उनके साथ भगवान के साथ चल गया सब रघुपति सुग्रीव पठावा और वहां नगर के पास ले गए उसको और वहां जाकर के कहा तुम जाओ और उसको बालू को ललकार जाकर के और ललकार तो करके जब तुमसे लड़ने आ गए तो नगर से गांव से बस्ती से बांध चलाना यहाँ जहाँ हमें यहाँ आकर के तुम मुझसे लड़ना पड़ा ये सब बातें बता करके उसको भेजा जा करके बाल को ललकार करके यहाँ लाओ तब कहा भगवान ने काम से जाग नहीं हुआ और जा करके बाल को मारे जा करके उसको मारेंगे तुम उसको वहां से ललकार करके लाओ और यहाँ पर आकर के तुम दोनों को युद्ध होगा तब मरोगे चल रघुपति सुग्रीव पठावा गर्जिस जाए निकट बल पावा भगवान का बल पा करके उसने सुग्रीव ने जाकर के दरवाजे पर गर्जना की बालिको तो बाल को वो किसी की जो है ललकार को सहन नहीं करता था तो गड़बड़ा भी फिर जैसे मायावी को मारने के लिए निकल पड़ा था वैसे निकल पड़ा आ गया मैदान में आकर के बाल जो गौता सुग्रीव के पीछे तो सुने तो बाल क्रोधा क्रोधावा हाँ, क्रोध आकर के उसको क्रोध दिया गया ये तो अभी भागा भागा काल बचा घबरा था तो आवाज कहाँ से पता डाली थी और हमको ये कारण लगा तो कहते हैं कि सुनो के बारी तेरे भाते भावा और दही तेरे चरण नारी भावा तारा उसकी पत्नी का नाम आगे पता चल जाएगा तो फिर उसने मना किया और बताया भी उसको <clears throat> बाली को कहा कि देखो अब उसको सुग्रीव के पीछे जाना ठीक नहीं तो उसके बाद भी तुम्हारा भाई है अगर मार भी डालोगे तुमको तो कोई बड़ा भारी वस्तु में प्राप्त नहीं होगा इसलिए उसको तुम तो उसको मारने मत तुम जाओ अगर ये ललकारता भी है तो ललकारने दो पागलपन जाने को हटाओ दूसरी बात ये कि अभी अंगद ने कल हमको बताया है कि अभी कोई जो है यहाँ के अयोध्या राजा के दो राजकुमार जो यहाँ आए हैं और सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई है और उनमें वे बड़े शक्तिशाली हैं उन्होंने ये जो ताल के साथ वृक्ष थे उनको एक बाण मार करके गिरा दिया है और उसके जो अस्थि के काल जो है वो डुंडवी के जो हड्डियाँ थी वो भी फेंक दी है ये सब मुझे पता चला है इसलिए इसके मान्य होता है कि वो बड़े शक्तिशाली है उनको भी कहते कैसे बताती है <clears throat> ये सुन प्रति जिन्हें मिले सुग्रीवा सुग्रीव की जिनसे मित्रता हो गई है ते दो बंधु तेज बल सीवा ये दोनों भाई बड़े तेजस्वी बड़े शक्तिशाली हैं बड़े बलवान हैं कौशलेश सुपलक्ष्मण रामा वो कौशलेश के अभिजात भगवान के महाराज दशरथ के पुत्र हैं और उनका एक का नाम राम है दूसरे का नाम लक्ष्मण है और काले दीप सत्य संग्रामा उनमें बड़ी शक्ति है वो काल के भी सत्य संग्राम वो किसी का हमने वाले नहीं है और ये सब लोग कौन थे राम और लक्ष्मण जी ये बात की सूचना दूतों के द्वारा अंगद को मिल गई और अंगद ने ये सूचना अपनी माता को बता दी और तारा ने भी बालू को भी बता दिया जब जिस समय को सुग्रीव के पीछे दौड़ा जा रहा था ये सब बात हो गई लेकिन बाली नहीं मानता कहता कह बालू सुन धीर प्रिय समझ श्री रघुनाथ बालक की अपनी पुष्टि है वो उनसे कहता है सब अब तारा से बड़े प्रेम पूर्वक उसको समझाता है करे तुम तो डरपोक हो धीर डरपोक अरे तुम तो डरते हो स्त्री बात तुम्हारी तुम तो डरते हो समगर से रघुनाथ तुम्हें पता नहीं अगर वो भगवान है तो तो संदर्शी होते हैं भगवान कोई भेदभाव थोड़ी करते हैं मेरा तेरा थोड़े नहीं होता तो संदर्शी होते हैं तो चाहे सुधी हो चाहे बाजे दोनों हमारे भी दोनों दोनों बराबर हैं हम दोनों लड़ेंगे तो उनको तो समझती रहेगी वो किसी को पक्षपात तो करेंगे भगवान इस प्रकार और जो कदाच अब संवर्ती होने के कारण मुझे मारने का कोई कारण नहीं है लेकिन जो कदाच उन्होंने मारी है कदाचित कोई कारण उनको ऐसी कि मेरे हमको मारने तैयार हो मारी दिया तो उन्हें सनाथ तो मरने पर भी मैं अनाथ नहीं होगा सनाथ ही होगा सनाथ तो मैंने भगवान के हाथों से मरूंगा तो भगवान ही मुझे मिलेंगे और भगवान को प्राप्त करने में सनाथ हो जाना जब तक जीव को परमात्मा जी प्राप्त नहीं होती तब तक जीव को दुनिया भर का कुछ भी मिल जाए लेकिन जीव अनाथ ही अनाथ माने उसका कोई धनिया भूरी नहीं है बिना उसके केंद्रीय